और पुकार पुकार कर कहेंगे क्या है मालिक तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे वो कहेगा कि तुम्हें तो हमेशा रहना है